भला क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते या दिलों पर वो ताले पड़े हुए हैं जो दिलों पर पड़ा करते हैं